और जब वो मदियन के कुएं पर पहुंचे तो देखा कि उस पर ऐसे लोगों का एक मजमा है जो अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं और देखा कि उनसे पहले दो औरतें हैं जो अपने जानवरों को रोके खड़ी हैं मूसा ने उनसे कहा तुम क्या चाहती हो उन दोनों ने कहा हम अपने जानवरों को उस वक्त तक पानी नहीं पिला सकती जब तक सारे चरवाहे पानी पिलाकर नहीं निकल जाते और हमारे वालिद बहुत बूढ़े आदमी हैं